सेवा संख्या दो सौ आठ के बाद अरुणनयन उर बाहु विशाला जलज तनु श्याम कमाला प्रतिपत कसे पर भाखा चाहु सायक दौहा माता श्याम गौर सुंदर दो भाई श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महान दिपाई विश्वामित्र महान दिपाई तनु ब्राह्मण्य देव मैं जाना ब्रह्मण्य देव मैं जाना पिता तदेव भगवान पिता तजु भगवाना जात सलेलात मुनिमीन दिखाई सलेलात मुनिमीन दिखाई सुनताड़ क्रोध कर खाई सुनताड़ का क्रोध कर खाई कनिबान प्राणी हर लीना कनिबान प्राण हर लीना जानते निज पद दीना जानते निज पद दीना कबर्ष निज नाथन की चीनी कबर्ष निज नाथन की ज्ञान विद्यानिज कहूँ विद्यादीनी विद्यानिज कहूँ विद्यादीनी राते लागन सुधा पिपाशा रात लागन सुधा पिपाशा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा आयुष सर्प समर्पित प्रभु आश्रम आनी आयुष सर्प समर्पित प्रभु आश्रम आनंद मूल फल भोजन भगत मूलफलभोजनादीन की कल जैसे देख रहे थे जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान चले तो वो ऐश्वर्यवान होकर के चले अब उनकी शक्ति को देखो सामर्थ्य को उनके तेजस्वी शरीर को देखो उसका स्नान करो भगवान ऐश्वर्य निधान और भगवान जो है वैसे सुंदर स्वरूप कोमल बाल लीला करने वाले वो भगवान जो थे का जो उनमें जो जो सामर्थ्य प्रकट हो गई युवावस्था आ गई सत्य सामर्थ्य ये उनका वर्णन कर अब दोनों बालक इस प्रकार के हैं भगवान राम लक्ष्मण कि पुरुष सिंह जो पुरुष के समान <clears throat> सिंह के समान दोनों पुरुष हैं बहुत आ गया सब में वो दिखाई देने लगा तो दोनों अरुण ने और बाबू विशाला अब उनके मित्रों में लालिमा है बाबू विशाल है अब सब लोग व्यक्ति की शक्ति के द्योतक शरीर बड़ा संतुष्ट है शक्तिशाली है और नील जल श्याम समाला नील जल के समान मेरा श्याम वाला शरीर है कमाल वृक्ष के समान ही शरीर श्याम है कमाल का वृक्ष भी उसमें भ्रभो कितना गहरा हरा होता है कि नील एवं जैसा प्रतीक है तो कमाल वृक्ष से भी नीलिमा का उदाहरण दिया जाता है भगवान के शरीर का कमाल वृक्ष में बीच बीच में लाल फूल भी लगे होते हैं उनके जिसमें अरुण नयन या अरुण अधर या अरुण हाथ ये सब बीच में ऐसे मालूम होते हैं जो फूल के अंग है वो अरुण अन्य कमाल के समान वृक्ष के समान मान उनका शरीर है और जलद के समान उनका शरीर है श्याम भगवती के मेघ काले देख गंभीर गहन मेघ उनके समान उनका शरीर इस प्रकार का सुंदर स्वरूप है तो कभी चतुर्थी की तस्वीर पर भागा और फिर वो कमर में कभी पट पीट कमर में जो अपना पीतांबर जो है वो कसे हुए अब देखो पीतांबर का एक तरीका तो ये है कि कंधे को डाले हुए हुए हुए एक पीतांबर का रूप ये है कि कमर में कस लिया जो कमर में कस लिया तो अब ये उनके जीविका का जो तक हो गया अब युद्ध करने के लिए जैसे कोई तैयार हो तो कमर कस के तैयार हो जाए तो मन उन्होंने पीताम्बर और कमर में कस लिया कटी पटपीठ कसे बरभाथा और वो जो तो उसमें तर्कस बता हुआ है उनके कमर में भाथा जो है तर्कस हाथ तर्कस उसमें बांध भरे हुए हैं तर्कस बता हुआ है और उसे चाप शायद जो था और चाप और शायद दोनों हाथ में लिए हुए हैं बाएं हाथ में धनुष लिए हैं दाएं हाथ में एक बांध लिए हैं तो बिल्कुल तैयार होकर के उनके साथ में इस प्रकार कर रहे हैं कि जहाँ तुम्हें आवश्यकता पड़ जाए तुरंत आक्रमण करने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार कमर कसे हुए और इस प्रकार से धनुष्मान हाथ में लिए हुए हैं तकस भी कमर में कसा हुआ है इस प्रकार से सावधान होकर के उनके साथ में लिए चले गए श्याम गौर सुंदर जो भाई अब इसके बाद लक्ष्मण जी को बता दिया लक्ष्मण जी गौरवर्ग में जो है वो भी उनके साथ साथ चल रहे हैं उनके पीछे तो आगे विशाल जी जा रहे हैं पीछे भगवान राम जा रहे हैं उनके साथ साथ उसके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं इस प्रकार से इस मार्ग में विश्वामित्र जी का जो शिवराश्रम था उसको चले जा रहे हैं पैदल चले जा रहे हैं आगे पैदल पैदल ये सब चले जा रहे हैं और विश्वामित्र जी अपने मन में क्या सोचते जा रहे हैं कहते हैं कि विश्वामित्र महान जी विश्वामित्री समझ रहे हैं कि हमको एक महान विधि मिलेगी इससे ज्यादा मूल्यवान वस्तु क्या हो परमात्मा ही हमको मिल गया तो विश्वामित्री जी बहुत प्रसन्न है उनको ये लगा कि अच्छा हुआ कि निशाचरों के बहाने हम भगवान राम को ले आए निशाचर मरेंगे तो मरेंगे लेकिन भगवान राम को हम ले आए अब वो हमारे पास हैं हम उनके दर्शन करें हमारे निकट रहेंगे तो उनके निकट रहने का आनंद प्राप्त हो जाएगा तो प्रभु ब्रह्मा ने देव में जाना अभी देखो भगवान का एक लक्षण कि भगवान जो ब्रह्मण्य देव है भगवान के बहुत से नाम है बहुत से लक्षण है उनमें से यही ब्रह्मण्य देव के माने ये है कि ब्राह्मणों की सेवा करने वाले उनसे प्रेम रखने वाले उनके ऊपर दयाल कृपाल उनके रक्षक है पहले देख चुके भगवान के वक्ष के ऊपर भ्रभु की लाभ माने इसके माने भगवान जो है वो ब्राह्मणों का इतना आदर करने वाले हैं कि उनकी छाती में लात मारी तो उसको भी वो चिन्ह के रूप में संजोड़े रखे हुए वो चिन्ह इस बात का सूचक है उन्हें ब्राह्मण बहुत प्रिय है पक्ष में उनके चरण का चरण है अब यहाँ पर विश्वानंद जी की सेवा के लिए उन्होंने मांग करके लाए हैं तो भगवान उनके साथ आ गए उनकी सेवा के लिए तत्पर है इसलिए कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना तो वो पहले तो विश्वामित्र तो जी समझते ही थे कि भगवान ऐसे ऐसे हैं लेकिन आज ये बात सिद्ध हो गई विश्वामित्र कहते हैं आज ये बात हमारे लिए सिद्ध हो गई कि भगवान ने देव देखो तो हमारे साथ चलिए और क्या किया के पिता का देव भगवान और उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया महाराज सब को छोड़ दिया राजधानी छोड़ दी <clears throat> राज्य के राजधानी को सब छोड़ दिए <clears throat> और हमारे साथ चल दिए और पैदल चले आ रहे हैं हमारे साथ तो उनको लगा कि देखो भगवान किस प्रकार से हमारे ऊपर से कहा कैसे हमारे ऊपर दया ऐसे सोच करके जो हो भगवान को भी अपने विचार करके तो चले जाए इस प्रकार से जाते जाते जब आश्रम के निकट पहुँचे तब से उन साक्षक आश्रम के आसपास घूमते रहते थे वहाँ पर ताड़का तो कहते हैं चले जाकर नदी को दिखाई मुनि तालिका छोड़ कर भाई वो तालिका लिखी वो हो मुन साचरी तो वहाँ आश्रम के पास ही विश्वामित्र ने दिखा दिया तो देखो निशाचरों में सबसे पहले चीज तो ताड़के ये हैं उसके पुत्र हैं सब <clears throat> वो सबके सब आकर के हमारे यहाँ आक्रमण करते रहते हैं और हमको पीड़ित करते रहते हैं <clears throat> उनमें से एक ये है ताला तो जैसे इसकी तरफ विश्वामित्र जी ने इस प्रकार से बोला तो <clears throat> तालका भी जो है वो उसने देख लिया कि देखो हम उसको बता रहे हैं इस प्रकार से तो उसको क्रोध आ गया और वो क्रोध करके उनके ऊपर विश्वामित्र के ऊपर भगवान राम के ऊपर तो लेकर के अपने जो कुछ उसके पास अस्त्र शस्त्र था गदा जैसा एक ग्रामीण रूप का बनावटी जिसमें की चीजें लगी हुई थी वो लेकर के दौड़ी मारने के लिए तो आक्रमण करने के लिए तो <clears throat> जैसे ही सोच करके तारका दौड़ी भगवान ने बिखारी रही तो आ रही तो हम विश्वामित्र को मार दो तो हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो झट से उन्होंने क्या किया एक ही बार प्राण हर लिखना भगवान बालनाथ धनुषदाय ने बाहर पहले तैयार लिए हुए थे जब से बाढ़ बाढ़ की तरफ के ऊपर रखा और खींच करके मारा जब तक वो पास आवे उसके पहले ही बाढ़ लगा और एक ही बाढ़ में उसके पास चले दीन जानते ही मेरी पद दिन अब उसका क्या हुआ मरी हो तो वो भगवान ने उसको भी निधि पद दीना के माने उसको भी मुक्त कर दिया निशाचरी होते हुए भी इतना उपद्रव करते हुए भी भगवान के हाथ से बाणों से मरे तो वो मुक्त हो भगवान ने क्या कहा तो सोचा उसको कि दीन जान तो वो भी दीन है अब जैसे यहाँ पर शिक्षा की बहुत सी बातें आ गई अध्यात्म की दृष्टि से एक बात तो ये कि ताड़का जो है जैसे तुलसीदास ने ताड़का के आगे क्रोध लिख दिया कि सुन तालिका क्रोध कर भाई तो क्रोध वैसे तो क्रोध करके दौड़े ही था ही इस प्रकार का लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की बना दी वर्णन ऐसे कर दिया कि क्रोध करके दौड़ी कि जिससे ये पढ़ने वाले सावधान लोगों को समझ में आ जाए कि कालका जो है क्रोध वृत्ति की सूचक है उसी की प्रतीक है भगवान अगर निशाचरों का मत करते हैं हमारे अंदर हृदय में अगर विकार हमारे जितने हैं वही निशाचर हैं और हृदय में हमारे भगवान आते हैं और इन साक्षरों को मारते हैं तो सबसे पहले तो साक्षर कौन सामने पड़ता है जिसको भगवान मारते हैं क्रोध <clears throat> अगर क्रोध गया मारा गया तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा नहीं तो लोग अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण करते रहते हैं करते रहते हैं और उनका बस नहीं चलता क्रोध फिर आता क्रोध फिर बड़ा टूटता है तो क्रोध ना आना और सबके साथ संभाव रखना ये है परमात्मा की कृपा से जब व्यक्ति के अंदर भूत आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो तब ये फल देखने में आता है अक्रोध क्रोध की वृत्ति न उत्पन्न हो भगवान की कृपा से भी इस प्रकार से होता है अब कालका ने नशाचरी है और उसका बध भी किया तो क्रोध का बध भी करते हैं लेकिन क्रोध की वृत्ति अगर नष्ट होती है तो उसका क्या होता है कहाँ जाती है जितनी भी वृत्तियां हैं अब आपको तत्वबोध भी पढ़ लिया सार भी ज्ञान की बातें उसमें पढ़ ली तो आपको मालूम हो गया कि मन क्रोध की वृत्ति भी मन की एक वृत्ति है क्रोध आता है तो मन में क्रोध आ जाता है इसके माने मन क्रोध का रूप धारण करता है तो वो प्रति क्रोध की वृत्ति हुई और जिस समय मन की वृत्ति लीन हो जाती है तो कहाँ लीन होती है शेष क्या रहता है अब उसको याद रखो यही वेदांत की बात है याद रखने का काम ये समस्त वृत्तियां कूटस्थ से उत्पन्न होती हैं उसी में लीन हो जाती हैं जो आत्म चैतन्य शुद्ध चेतना आत्म चैतना है उसी से ये सब वृत्तियां उत्पन्न होती हैं क्रोध की वृत्ति है मन की वृत्ति है बुद्ध की वृत्ति है अहंकार की वृत्ति है उसी से उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन हो जाते हैं अगर किसी की क्रोध की वृत्ति लीन होगी तो कहाँ लीन होगी आत्मस्वरूप में कुटस्थ में परमात्मा में लीन हो गई तो अगर ये तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने उसको अपना पद दे दिया तो इसका क्या हुआ बस अब रामचरित मानस को समझने के लिए <clears throat> इस प्रकार ये बात मत देखो कि भगवान ने ये तो बड़ा अन्याय किया एक निशाचर को भी अपना पद दे दिया हम्म, ऐसे सोचे कि लौकिक दृष्टि की है आध्यात्मिक वेदांत की दृष्टि क्या है ये समस्त वृत्तियां आत्मा स्वरूप से परमात्मा स्वरूप से परमात्मा चैतन्य से उत्पन्न हुई उसी पर हाथ करते हैं अंततः उसी में लीन हो जाती है क्रोध समाप्त हो गया तो एक बाण चलाया तारका को मार दिया मर भी गए लेकिन ये सब करते हुए भगवान के मन में तारका के प्रति बैर भाव नहीं आया बैर भाव आता तो उसको अपना पद नहीं देते बचाव मरा हाँ? ये आध्यात्मिक की महानता इस बात में है कि व्यक्ति फिर कहीं किसी से बैर भाव न रखते अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है है <coughs> तो उस क्रोध को तो ठीक है उसका क्रोध को शांत हो क्रोध का प्रकार दूर हो ये तो कोशिश करें लेकिन क्रोध के स्थान पर वैर भाव आ जाए तो वैर भी तो एक तो आखिरी वृत्ति है अगर भगवान के मन में वैर भाव आ जाए तारका के प्रति तो वो वैर भाव कोई सात्विक वृत्ति थोड़ा है तो इनका अभ्यास करते रहो धीरे धीरे विचार करते रहो विचार करते तो ये भी विचार करते कि अपने मन में वैर भावना आने पावे अपने मन में क्रोध भावना आने पावे अब दूसरे लोग क्रोध कर रहे हैं तो हम क्या करें लोग पूछते हैं कि भाई ये दूसरा क्रोध कर रहा है तो हमें तो क्रोध करना ही पड़ेगा उसके साथ में कहते नहीं अगर दोनों व्यक्ति लौकिक हैं संसारी व्यक्ति हैं तो एक क्रोध करेगा दूसरा भी क्रोध करेगा लेकिन एक तो व्यक्ति संसारी है तो क्रोध करेगा और दूसरा व्यक्ति आध्यात्मिक है ज्ञानी है तो भगवान का भक्त है तो उसके क्रोध करने पर क्रोध नहीं करेगा क्या करेगा उसके प्रति दया भाव करेगा वो कहेगा कि देखो बेचारा क्रोध के क्रोध रूपी असुर ने उसका गला दबा रखा है और उससे आक्रांत होकर के बेचारा बड़बड़ा रहा है जैसे एक कोई रोगी हो क्रोध किसी को आ गया तो माना उसका क्रोध रोग क्रोध का रोग भड़क उठा अब डॉक्टर का काम क्या है कि रोगी के रोग को देख करके उससे भय करे झगड़ा करे लड़ाई करे ये थोड़े उसके ऊपर दया भाव रखे रोगी के ऊपर वैद्य डॉक्टर दया भाव रखे तब उसका उपचार करेगा अगर मान लो कोई पागल हो जाए और पागल व्यक्ति को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ ट्रीटमेंट के लिए तो जैसे जैसे बात बूंद करके फुसला फुसलू करके बहाने से किसी से डॉक्टर के पास ले जाओ और जहाँ उसने जाना कि हमको डॉक्टर के पास ले आए हैं डॉक्टर हमारे इंजेक्शन इंजेक्शन लगाएगा वो पागल व्यक्ति समझ गया तो डॉक्टर को गालियां देने लगेगा और मारने को तैयार हो जाएगा तब उस समय डॉक्टर क्या करेगा वो भी पागल घटना लड़ने के लिए है अगर वो भी लड़ने लगे मार काट एक दूसरे को होने लगे तो डॉक्टर का बात का डॉक्टर को तो वो वो पागल व्यक्ति हजार गालियां दे तो भी डॉक्टर उसको इस भाव से सुनता रहेगा कि बेचारा पागल है ये रोगी है इसलिए इस प्रकार से चल रहा रहा है हम कोई रोगी थोड़े इस प्रकार को हम तो सोचते हैं तो हमें से क्या चिल्लाना है इसके साथ में हमें तो इसके साथ में रही है थोड़ी देर में इसी प्रकार से यदि आप भजन पूजन कर रहे हैं भगवान की भक्ति प्राप्त कर रहे हैं भगवान ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो अपने अंदर इतना बल आना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति जो कि इस प्रकार से काम को उदाहरण विकारों से ग्रसित हो उसके प्रति बैर भाव अपने मन में न ला करके घृणा भाव अपने मन में उसके प्रति न ला करके उसके प्रति दया भाव आना चाहिए और सभी संतों ने इसी प्रकार से किया अब जितने भी प्राचीन काल के संतों के आप इतिहास देखेंगे उनमें एक नहीं आपको सैकड़ों इस प्रकार के दृष्टांत मिलेंगे अगर कोई शरीर का रोगी व्यक्ति हो और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर अगर उसको दूर दूर रखे दूर दूर दूर मेरे पास बता तब बताओ कि रोगी व्यक्ति कहाँ जाए उसका उपचार कहाँ होगा अगर कोई काम क्रोधी लोभी मोही बिकारी दुराचारी भ्रष्टाचारी व्यक्ति किसी संत के पास न जाए तो बताओ कहाँ जाएगा अगर सुधार चाहता है तो वो कहाँ जाएगा आप जानते गौतम बुद्ध जगह जगह गांव गांव घूमते रहे और अपने धर्म की शिक्षा सबको देते रहे बहुत से लोगों से शिक्षा ग्रहण की बहुत से लोगों को जीवन बदल गया आप जानते डाकू का नाम अंगुली माल था वो भी मिल गया तो गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुली माल का क्या किया भागा है डाकू डाकू भागो भागो भागो भागो ऐसे बोले क्या किया उस अंगुली माल को भी अपनाया और उसको भी समझाया और प्रेम पूर्वक उसको शिक्षा दी उससे कहा कि तुम जिस प्रकार के कृत्य करते हो तो तुम्हें कोई फायदा नहीं तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो दुखी हो रहे हो और तुम्हारी दशा देख करके तुमको दया आती है तुम्हें चाहिए कि तुम सही सन्मार्ग पर चलो बिना टाका डाले भी तुम्हारा जीवन का निर्वाह हो सकता है देखो जिस प्रकार से हम जीवन जीते हैं तो कौन सा उसमें हमको बाधा हम नहीं जीवन जी रहे तो कोई हमें टाका डालना पड़ता है तभी हम खा पाते हैं इच्छा हम करके भी खाई जा सकते अंगुली माल तो गौतम बुद्ध की शिक्षा से तो उसको समझ में आ गई और वो भी उनके साथ हो गया वो भी संत बन गया गौतम बुद्ध को एक बेस्या मिल गई आम्रपाली आम्रपाली की कथा बहुत प्रसिद्ध है उपन्यास भी उसके ऊपर लिखा गया अब गौतम बुद्ध के पास वो आम्रपाली आ गई अब समाज में भले ही समझा करें लोग का कि आम्रपाली को गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को अपने साथ पाल लिया उसके साथ हो गए इसके माने ये भी भ्रष्ट हो गए उसको तो दुनिया भरी समझे लेकिन गौतम बुद्ध इतने सशक्त थे इसी बात में वो बुद्धत्व प्राप्त हो गया था ज्ञानवान थे सिद्ध इसी बात के थे कि आम्रपाली का देशा का विशत्व भी समाप्त हो गया वो भी सदाचारणी हो गई सन्मार्ग पर चलने लगी उसने दुष्कर्म छोड़ दिया <clears throat> तो ये ये उपचार इस प्रकार के उपचार गौतम बुद्ध नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसलिए <clears throat> संत पुरुषों का जो संतत्व है उनका धर्म है वो समझना चाहिए भगवान का भक्त होना ज्ञानी होना एक बात है लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का क्या धर्म है उसको भी स्मरण रखना चाहिए ज्ञानी व्यक्ति का भक्त का धर्म ये है कि सबके ऊपर दया भाव रखे और समझ समदृष्टि रखे मैंने सब परमात्मा के रूप हैं अगर ऊपर से ये बिगड़ गए हैं इनका आचरण बिगड़ गया है बदनाम हो गए हैं तो ये कर्म के अनुसार इस प्रकार का हो गया है और ये सुधार हो सकता है अभी हाल में आप देखते हो गांधी जी का क्या कहना कहते हैं वो कहते हैं कि पापी से कुक से घड़ा मत करो पाप से घड़ा करो पाप नहीं होना चाहिए पाप को छोड़ो लेकिन पापी जो है वो हो पाप और पापी आप जानते हो कि शुद्ध शुद्ध स्वरूप हर व्यक्ति का आत्मा है और आत्मा निर्विकार है निर्विकार के माने उसको पाप आप कितने छू जाता उसका कोई विकार उसको नहीं लगता तो इसके माने ये पाप आप जो है ये है दूर किए जा सकते हैं और शुद्ध स्वरूप आत्मा का हर कोई प्राप्त कर सकता है तो इस भाव को सदा ध्यान में रख करके तब व्यवहार करे सुनता <clears throat> जैसे कि माता पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार करते हैं पुत्र गर्व करता है तो उसको डांटते भी हैं फटकारते भी हैं मारते पीटते भी हैं सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं सही अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा भी कर देते हैं लेकिन माता पिता अपने बच्चे के साथ में बैर भाव उत्पन्न कर लेना ऐसा नहीं करते तो, तो, तो आखिर पुत्र है उनके मन में उसके प्रति भैरभाव नहीं आता ये नहीं हो सकता कि पुत्र जो है वो हो अगर वो हमारी बात को नहीं मानता तो पुत्र अगर नहीं मानता तो हम उसको जो है हमारा दुश्मन है ऐसा पिता के मन में कभी पुत्र के प्रति शत्रुता भाव का भाव नहीं आता अब उसको मानते देखो गड्ढा मार रहा है पीट रहा है बहुत कर रहा है लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं कोई एक भाव इस प्रकार का है ये सुधर जाए इसलिए इस प्रकार का कर रहे हैं उसके ऊपर कृपा करके उसको दंड दे रहे हैं हाँ, दंड देना भी एक कृपा भाव है पिता का पुत्र को दंड देना एक उसके ऊपर कृपा भाव है दया भाव इसलिए दंड दे रहे हैं <clears throat> ये नहीं कि उसके ऊपर बड़े उदार हैं इसलिए अगर वो दुष्कर्म करता तो और करो चलो हम कहा तुम हमारे बहुत प्रिय हो खूब इसी प्रकार का इधर ऐसे पता नहीं चाहे <clears throat> यही बात जो वो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं भक्त लोग हैं वो तो समस्त समाज के माता पिता के समान <clears throat> उनको सारे समाज में उनको सन्मार्ग पर लगाना सही उनको शिक्षा देना सबको अपनाना सबके साथ प्रेम भाव रखना यही उनका जो है वो व्यवहारिक ज्ञान है यही उनका व्यवहारिक वेदांत है यही उनकी व्यावहारिक भक्ति है ये साधना करते करते व्यक्ति अपने आप को ये निश्चय कर ले कि अन्य व्यक्ति भले ही संसारी हो संसारी ढंग से व्यवहार करते हो लेकिन अब हम संसारी नहीं है उससे थोड़ा ऊपर उठ करते हैं और हमारा धर्म जो है वो हो और कर्तव्य दायित्व तो अब हमारा क्या बनता है उसका भी स्मरण रखें सुधार की भावना बराबर व्यक्ति में रखें कि जो दूसरे लोग संपर्क में आते हैं उनमें धीरे धीरे करके सुधार हो परिवर्तन आ उसके लिए उनको डांट भी सकते हो उनके साथ उनको और भी कर सकते लेकिन मन में बैर भाव ला करके मत डालो बैर भाव रख करके झगड़ा मत करो इसलिए ये कहते हैं कि देखो दोनों बातें एक ही पंक्ति में आ गई ये शिक्षा क्या देती कहते हैं कि एक ही मान प्राण हर लेना और दूसरी तरफ दीन जानते ही निज पर मारने के तो ऐसा भयंकर बाण मारा कि दूसरा बाण मारने की जरूरत न पड़े वो लगा तो एक ही बाण मर गया हाँ? लेकिन दूसरी तरफ ये भी उसके प्रति दया भाव की दीन जान कि मैंने उसके ऊपर दया था ये दीन है दीनों पर दया की जाती है भगवान ने उसके ऊपर दया दया की और अपना सब उसे प्रदान किया ये दोनों बातें एक साथ साथ ऐसी लंका कांड में तो चल करके आप बात बिल्कुल बिल्कुल साफ बात देखें लंका कांड में रावण से युद्ध होता है भगवान राम का लेकिन भगवान राम रावण से बैर भाव नहीं रखते बिना बैर भाव किए इतना बड़ा युद्ध भी हो गया रावण मारा गया सारा परिवार मारा गया लेकिन आप कहीं भी तुलसीदास जी की भाषा में इसमें आप देख जाओ कहीं भी एक पंक्ति भी कहीं भगवान राम ने जो रावण के प्रति बैर भाव रखते नहीं ऐसा नहीं हुआ कभी भगवान राम ने रावण के प्रति अपशब्द कहे हों जैसे कोई शत्रु के प्रति बोलता है उस प्रकार से भगवान राम बोले हो कहीं नहीं बोले आपको दिखाई दे <clears throat> इसलिए <clears throat> ये है कि युद्ध भी करो तो भी पैर भाव मत लाओ क्रोध मत करो <clears throat> ये एक ही बाण चले दिखाई श्री लाडका गोद करताई ये सब ये लाड़का इत्यादि जितने पात्र हैं ये सब हमारे आंतरिक जगत की जो मूर्तियां हैं उन्हीं के प्रतीक है तारका गोद की प्रतीक है भगवान की भक्ति हृदय में आवे भगवान का ध्यान चिंतन करें पूजन करें ज्ञान आवे परमात्मा का हृदय में तो उसका परिणाम ये होगा कि सबसे पहला लक्षण ये दिखाई देना चाहिए जीवन में व्यवहार में कि व्यक्ति क्रोध से निवृत्त हो जाए अगर क्रोध उसका शांत हो गया तो समझो कि भगवान उसके हृदय में आ गए और निशाचरों का पद प्रारंभ हो गया अब जब क्रोध गया तो उसके बाद में फिर और लोभ मोह राग देश ये सब भी उसके छल छल इत्यादि ये सब जितने विकार हैं ये भी सब चले <clears throat> जाएंगे तब ना सही जानी अब कहते हैं कि विश्वामित्र ने अब साक्षात मैंने परीक्षा हो गई ये तो भगवान राम ही है विश्वामित्र जिस पर परमात्मा की आराधना में लगे हुए थे उपासना कर रहे थे जिस परमात्मा के निरंतर चिंतन करते रहते थे वही भगवान इस समय राम होकर के अवतीर्ण हुए हैं तो विश्वामित्र ने कहा कि तो वाह वो बिल्कुल अब बिल्कुल सही बात है ये भगवान नहीं है और ये हमारे इष्ट देव जिनका निरंतर ध्यान पूजन करते रहते हैं उन्हीं ने अवतार लिया है वही कवरेज अपने हृदय ने चीना ने स्वीकार कर दिया कि हाँ ठीक वही भगवान जिनका के आराधना करते थे वही अवतार दिए भगवान राम हैं और विद्या ने जो विद्या दी और उन्होंने विद्या ने भी भगवान तो वैसे विद्या ने भी नहीं है सारा ज्ञान भगवान में है ये पहले बता चुके हैं बच्चे जी के पास जब भगवान गए ग्राम गए तो वहाँ सारी विद्याएं दक्षिण जी ने उनको सिखाई भगवान राम ने बहुत जल्दी सीख नहीं सकते सब जाके सहज शास्त्र सोहर पड़िए कौतुक भारी भगवान राम तो वैसे ही सारे विद्या के निधान हैं इसलिए वशिष्ठ जी ने जो पढ़ाया वो भी एक प्रकार का उपक्रम था ऐसी साधारण सिखावती बातें कि उनको भी पढ़ाना है पढ़ा दिया भगवान राम ने भी पढ़ने गए इस प्रकार की लीला वो भी पूरी हो गई लेकिन भगवान तो ज्ञान निधान समस्त विद्याएं उनका अधिष्ठान भगवान राम पर परमात्मा ही है <clears throat> लेकिन फिर भी अब विश्वामित्र उनको ले आए हैं तो उनके पास जो जो कुछ उन्होंने विद्या इकट्ठी की थी धनुर्विद्या बाण विद्या जो मंत्र इत्यादि बाणों के जो कुछ उनके पास थे जो उन्होंने संग्रह किए थे वो सब उन्होंने भगवान राम को दे दिए हम्म। <clears throat> एक विद्या ये पढ़ा दी कि जाते लाभ प्रकाशा एक तो विद्या ये पढ़ा दी कि देखो <coughs> तुम्हें एक युक्ति ऐसी बताते हैं कि तुम्हें अब प्यास नहीं लगेगी तो देखो एक विद्या ये भी इससे भूख प्यास न लगे लेकिन भूख प्यास नहीं लगे तो व्यक्ति कमजोर हो जाए खाएगा नहीं तो कमजोर हो जाए लेकिन विद्या तो तब विद्या है कि बिना खाए पिए भी शरीर कमजोर न हो उसमें शक्ति बनी रहे और तेजी भी बना रहे जैसे खूब खाए पियो रहेगा इसलिए कहा अतुलित बल संते की प्रकाशा अतुलित बल शरीर से बल को बना रहे और मुख्य ऊपर तेज भी बना रहे प्रकाशवान भी बना रहे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दे ऐसा नहीं दिखाई दे कि व्यक्ति भूखा है बहुत टूटा है कमजोर है खड़ा नहीं हो सकता ऐसा नहीं दिखाई दे तब ये विद्या विद्या हुई कि बिना खाए पिए व्यक्ति शक्तिशाली बना रहे तेजस्वी बना रहे देखो कैसी दिल्ली विद्या अब ये विद्या विश्वामित्र जी को मालूम थी तो वो भगवान राम को बता दिया अध्यात्म की दृष्टि से ये क्या रहते हैं कि देखो जब तक ये व्यक्ति देहादी मानी है प्राणी मानी है तब तक ये भूख प्यास प्राण को लगती है अपने वेदांत के हिसाब से ये भूख प्यास शरीर को नहीं लगती इस तुम शरीर में भूख प्यास नहीं लगती प्राण में भूख प्यास क्यों तर्क क्या है जब तक कि जब तक व्यक्ति जीवित है प्राण शरीर में है तब तक भूख प्यास लगती है और जहाँ प्राण निकल गए शरीर से अकेला शरीर रह गया तो इस शरीर में भूख प्यास लगती है साथ साथ दिखाई देता है मरे आदमी को भूख प्यास नहीं लगती इसके माने शरीर में कोई और था तब भूख प्यास लगती तो शरीर में कौन था प्राण <clears throat> तो इस प्रकार से प्राण को जो है भूख पास प्राण को लगती है योग शास्त्र में जो प्राण का संयम करता है उसको फिर वो भूत प्यास के ऊपर आधिपत्य प्राप्त होता है सिद्धि प्राप्त हो जाती है ये योग शास्त्र की बात है वेदांत क्या कहता है कि जब व्यक्ति प्राण से तादाद में छोड़ करके अपने आत्मभाव में आ जाता है तब वो भूत प्यास से उपराम हो जाता है भूत प्यास नहीं लगती न लगने के माने ये है कि फिर उसको भूत प्यास पीड़ित नहीं करते जब वो सभी प्राण से तादात्म करेगा तभी भूत तो का आपका पता चलेगा अब ये वेदांत का रहस्य है आगे आत्मज्ञान की बात है आत्मज्ञानी व्यक्ति को आत्मज्ञान आत्मा को भूख नहीं लगती ऐसे समझ लो आत्मा को न भूख लगे न प्यास लगे आत्मा न कोई कर्म करे न आत्मा सुखी हो न आत्मा दुखी हो लेकिन आत्मा ऐसा न होते हुए भी आत्मा परम प्रकाश हो परम तेजो में सर्वशक्तिमान आत्मा ही आत्मा न खाए न पिए लेकिन सारी शक्ति जितनी है वो आत्मा में ही आत्मा की शक्ति से मन बुद्धि काम करते हैं आत्मा की शक्ति से प्राण काम करता है आत्मा की शक्ति से सारा शरीर सब जीवन आत्मा की शक्ति से चलता है तो सर्वशक्तिमान तो आत्मा ही है लेकिन आत्मा को न भूख लगे न आत्मा को प्यास लगे अन्य के ऊपर आत्मा निर्भर नहीं करता <clears throat> ये शरीर है ये प्राण है ये अन्न पर निर्भर करते हैं भूख प्यास लगती है प्राण को और जो खाते हैं अन्न उस अन्न से बनता है शरीर देखो शरीर अन्न में कोष है मैं अन्न से परिपुष्ट होने वाला तो शरीर है स्थूल शरीर ये शरीर अन्न से ही चलता है अन्न से ही बना अन्न से ही चला अंत में अन्न ही बन जाता है लेकिन भूख प्यास शरीर में नहीं लगती भूख प्यास लगती पानी <clears throat> ये सब वेदांत के विचार किए हुए कहाँ क्या अड़चन पड़ रही है तो उसका दूसरा कहीं नियम देखा गया सोचते हैं इस प्रकार से तो ये सब बातें अंतर्राष्ट्र के हैं धीरे धीरे करके देखें इस प्रकार से कहते हैं जाते लाग में सदा प्रकाशा अतुलित बल तेज प्रकाशा लेकिन ऐसी पंक्तियां पढ़ करके किसी व्यक्ति को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम तो बिना खाए पिए रहेंगे ये नहीं इसका कहने की बात करें ऐसे अर्थ नहीं लगाए जाते हट गर्मी वाले उसका जो जो उसका रहस्यात्मक अर्थ है उसको समझने की कोशिश करें तो आयु सर्व समर्पित गए प्रभु जी आश्रम में आने भगवान को अपने आश्रम में जब ले गए विश्वामित्र जी तब उनको भगवान राम को अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो सब भगवान को समर्पित कर दिए भगवान अब ये दो आप अपने पास रखो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी हमको इनकी जरूरत नहीं ये आपको पहले बताया था ये विश्वामित्र तो छत्री थे राजा थे एक राजा होने के नाते राजाओं को अस्त्र शस्त्र अपने इकट्ठे करने पड़ते थे उनका अध्यास भी करना पड़ता था जैसे तो विश्वामित्र जी के पास अस्त्र थे और विश्वामित्र राज्य तो छोड़े आए थे लेकिन जब आश्रम में आए थे तो अपने अस्त्र शस्त्र ले आए ही छोड़ करके आए और अभी तक इतनी तपस्या की तो भी अस्त्र शस्त्र अपने पास रखे रहे वो सोचते रहे कि शायद कभी जरूरत पड़े शायद कभी जरूरत पड़े लेकिन अब जब भगवान राम उसको मिल गए कि देखा परम परमात्मा ने अवतार ले लिया अब साक्षरों को बंद करेगा तो उन्होंने सोचा विश्वामित्र अब ये काम अस्त्र शस्त्र काम इन्हीं को काम आएंगे इसलिए इन्हीं को सौंप दो अब किस समय जब उन्होंने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए भगवान राम को तो विश्वामित्र निरस्त्र हो गए अब उनके पास कोई अस्त्र नहीं जब उन्होंने अस्त्र सब छोड़ दिए तो अब समझना चाहिए कि उनकी सिद्धि अब अपूर्णता प्राप्त जब भगवान प्राप्त हुए और उनको क्षत्रिय के क्षत्रिय के चिन्ह जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी भगवान को सौंप दिए तब क्षत्रिय उनका सब समाप्त हो गया अब शुद्ध विपक्त रह गया संतप्त रह गया आत्मा परमात्मा ब्रह्म भाव ज्ञान की स्थिति भक्ति की स्थिति बस वही है ये रूल बदल गया इस प्रकार से आकर के यहाँ तो आयुष सर्वसमर्पित गए प्रभु जी आश्रम ये अस्त्र शस्त्र यहाँ ने विश्वामित्र ने भी दिए है इसी प्रकार से दंडकारण्य में जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कुंभ ऋषि अगस्त ऋषि के आश्रम में जब भगवान पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी अगस्त ऋषि भी इनको अस्त्र शस्त्र देते हैं रावण को मारने के लिए <clears throat> तो ये <clears throat> एक बात ये भी है कि भगवान भी अवतार लेकर के भी जो कुछ कार्य करते हैं वो ऋषियों की कृपा से देखो विश्वामित्र ने अस्त्र शस्त्र दिए तो उन्हीं के द्वारा भगवान राम ने निशाचरों का वध किया अगस्त ने अस्त्र शस्त्र दिए उनसे रावण इत्यादि का वध किया तो अगर भगवान भी अवतार लेता है तो उनकी सहायता के लिए संतों की भक्तों की ज्ञानियों की ऋषियों की मुनियों की इनकी सहायता की जरूरत पड़ती है इसलिए हर व्यक्ति को सावधान होकर के अपने अपने स्थान पर इस जीवन में जीना चाहिए उसको अपना अपना कर्तव्य अपना अपना धर्म <clears throat> वो अपने संभाल करके व्यक्ति को रखना चाहिए तो फिर उसके बाद तो भगवान को उन्होंने विश्राम जी ने खाने पीने के लिए दिया तो अब वहाँ खाने को क्या मिलेगा आश्रम में कहते कंद मूल फल भोजन दीन भगत को जाने उनको जान करके ये <clears throat> कंद मूल फल जाकर तो उन्होंने विश्राम मित्र भगवान को खाने के लिए विश्राम करने वही खाए एक बात का पता ये चलता है <clears throat> कि हम लोगों का वर्तमान काल का जो भोजन है ये बिगड़ता चला जा रहा है प्राचीन काल में जो लोग खाते पीते थे तो जैसा मनुष्य का शरीर है और उसके अनुकूल जो भोजन है वो यही है फूल फल फल है <clears throat> दूध है और फल ये मनुष्य का मुख्य भोजन है <clears throat> जब फल मिलना कम हो गए घट गए दूध कम हो गया तो मनुष्य ने फिर दूसरा उसका सब्सिट्यूट ढूंढा तब ये अन्न जो है ये है उसने खाना शुरू किया गेहूं दाल चावल ये सब उसने खाने शुरू किया ये भोजन जो है नंबर दो का भोजन जहाँ कहीं अन्न की भी उत्पत्ति नहीं हुई गेहूं चावल भी न मिले और फल फूल तो पहले खत्म हो गए तो अब क्या खाना शुरू किया कि चिड़िया मार के खा मछली मार के खा तो ये तो दंडी लोगों का लक्षण है हारे दंडी की बात जब कुछ खाने को कहीं न मिले प्रकृति इस प्रकार की हो जहाँ और मनुष्य के अनुकूल जो कुछ खाने को उपलब्ध न हो तब ऐसे खा करके रहो शरीर मनुष्य की रचना इस प्रकार की है कि उसके लिए शरीर सबसे अच्छा कार्य तब करेगा जब व्यक्ति फल खाए दूध का प्रयोग करे तो ये तो सात्विक भोजन है दूसरे शरीर को पाचन इत्यादि के लिए और उसकी जितनी भी जरूरतें पड़ती हैं मनुष्य शरीर को नाना प्रकार की केमिकल्स जो उसके शरीर में जो पड़ते हैं वो इन, इनसे फलों से उसे प्राप्त हो जाते हैं दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी फलों की बात ये है कि व्यक्ति की बुद्धि को विकसित करने वाले शुद्ध रखने वाले फल खाने वाले दूध पीने वाले इस प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि होनी होती है धीरे धीरे करके भोजन का भी प्रभाव पड़ता है छांदो को उपनिषद में कहते हैं कि देखो जो कुछ हम खाते हैं उसके तीन भाग हो जाते हैं पेट में पहुंच करके एक तो सबसे स्थूल भाग जो मल बन करके निकल जाता है दूसरा उसका मध्यम भाग उससे फिर मांस रक्त बनता है हटिया बनती है तीसरा भाग से बहुत सूक्ष्म भाग जो उसका है अन्न का उससे फिर मन बनता मन भी मन और बुद्धि जो है उसको भी शक्ति प्राप्त होती है अन्न से ही शक्ति प्राप्त होती है हमारी बुद्धि शुद्ध बुद्धि रहे <clears throat> और हम आध्यात्मिक साधना कर सकें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकें तप कर सकें तो इसके लिए फिर हमको इस प्रकार का भोजन जो हो भोजन पर भी ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि को निर्बल बनाने वाला शुद्ध भोजन हमारा फलों में एक गड़बड़ी ये है कि वो ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं किए जा सकते हाँ, मान लो अमरूद होने लगे अमरूद हुए जिस जब तक अमरूद पेड़ में लगे तोड़ते खाते रहो महीने दो महीने तीन महीने जब तक चलो जब पेड़ में अमरूद नहीं रह जाए तो आप सोचो कि अब आगे चल करके अमरूद रह नहीं जाएंगे इनको तोड़ लो स्टोर कर लो रख लो कहीं रखे रहो छह महीने तक आप नहीं रख सकते उनको अब दूसरे फल आ जाए सदस्य में उन फलों को खाओ तो स्टोरेज कैपेसिटी इनकी फलों की न होने के कारण से जब अन्न गेहूं चना चावल इनका जब प्रयोग करना शुरू किया तो मनुष्य को दिखाई दिया कि ये तो बड़ी सुविधाजनक चीजें हैं इनको स्टोर कर लो अरे वो साल भर तक तो स्टोरेज सुविधा की वजह से ये अन्न खाने लगा ये धीरे धीरे करके इस प्रकार से सुविधा भोगी व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने जो वो स्वभाव उसका बदल गया अब मनुष्य को पहले मनुष्य को अन्न जैसे जो फल खाने वाले थे उन्होंने अन्न खाना जब शुरू किया तो अन्न उनको पचता नहीं था लेकिन धीरे धीरे करके शरीर में अभ्यास डाला मनुष्य शरीर ऐसा है कि अभ्यास डाल देता है तो उसी प्रकार का सहन करने लगता है उसी प्रकार का चलने लगता है एडजस्ट कर लेता है तो फिर शरीर ने एडजस्ट किया अन्न के साथ तो अन्न जो हमारा भोजन है ये नंबर दो का भोजन है लेकिन जिसको अन्न की आदत पड़ जाए तो फिर अब वो फल नहीं खा सकता जिन किसी किसी को दूध सूट नहीं करता तो क्या है उनको अन्न शुद्ध करने लगा तो दूध ही सूट नहीं करता आदत बिगड़ जाती है उसके फिर तो दूसरे प्रकार की हो तो ये ये जो है फिर विश्वामित्र जी वहां पर उनको स्वाभाविक रूप से फल फूल वहाँ खुद थे चंद्रमूल फल ये सब खुद थे तो उन्होंने फिर वही भगवान राम को भी दिए भगवान राम ने उनको खाया फलों में एक बात ये भी है कि फल जैसे वृक्षों से प्राप्त होते हैं वैसे वैसे सीधे सीधे खाए जाते हैं वृक्षों के पके हुए या थोड़ा और रख लिए तो पक गए खा लिए गए अब उनका जैसे रसोई में जैसे तरह तरह के मसाले डाल डाल करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं उनका कोई सवाल संबंध नहीं है फलों से फल में जितना सीधा शुद्ध फल खाओ उतने की अगर फल के भी व्यंजन बनाने लगे तो उनका फल की जो शक्ति है उपयोगिता है वो सब नष्ट हो जाएगी फिर फल फल क्या रह जाएगा वो भी विकृत हो जाएगा इसलिए यह जो है ये कंद मूल फल भोजन दीन भगत जान विश्वामित्र जी ने उनको कंद मूल फल दिए खाने के लिए आगे देखिए प्राप्त कहा सन रघुराई निर्दय यज्ञ करो तुम जाए ओम कर

योजन का सागर पारा योजन का सागर पारा पावक सरस पुनिमारा पावक सरस पुनिमारा अनुजन साचर कटक संहारा अनुजन साचर कटक संहारा मारिय सुरद्र निर्भयकारी मारिय सुरद्र निर्भयकारी स्तुति करें देव मुनिधारी स्तुति करें देव मुनिधारी ताहने कछुक दिवस रघुनाथा रहे मीन विप्रण पर दाया हेतु बहु कथा पुराना भगवती हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्रजंत विप्रभु जाना तब उन्हें सादर कहा बुझाई

प्राप्त कहा सन रघुराई अब इसको मैंने प्राप्त कहा कि मैंने दूसरे दिन ये दिन जिस दिन गए उस दिन ये फल फूल खाए विश्राम किया रात में सोए दूसरे दिन सवेरे उठे अब जो सवेरे उठे तब प्रातः काल से एक इत्यादि का कार्य प्रारंभ हुआ आश्रम का अब जब आश्रम का हुआ तब <clears throat> विश्वामित्र ने इनसे कहा भगवान राम से भगवान राम ने उन्हें विश्वामित्र से कहा प्रातःकाल मुनि सन रघुराई रघुराई भगवान राम ने उनसे कहा कि निर्भय चक्र करो तुम जाई अब आज देखें तुम्हारे निशाचक कहाँ आते हैं अब हमारी जिम्मेवारी इसकी हमकी अब तो आपको डरना नहीं है निर्भय होकर के विधि विधान से खूब अच्छी तरह से यज्ञ अब तो यज्ञ की तैयारी मैंने विश्वामित्र के अलावा आश्रम में रहने वाले बहुत से मुनि थे वो सब लोगों ने मिलकर के यज्ञ करना प्रारंभ किया और हाथ रहे मट्टी की रसरारी हाथ से तो मैंने यहाँ भगवान राम भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों उसकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए धनुष मार लिए एक किनारे अलग किए और यज्ञ होने लगे बस सुन मारी निशाचर क्रोही अब बस वहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्होंने मारी को बता दिया जाकर करके वहाँ तो यज्ञ शुरू हो गई हाँ, रात भी दौड़ पड़ा वहाँ से सुबह भी दौड़ पड़ा और उसके बाद उनकी सब सेना भी लेकर के दौड़ पड़े ये सब आ गए सहाय द्रोही वो तो मुनियों का द्रोही था उनसे भेदभाव रखने वाला था यज्ञ नहीं होने देना था उसे तो बस वो हो सेना लेकर के आ गया और यज्ञ विध्वंस करने लगा बिन भर राम पान से मारा पहले मारी सामने पड़ गया तो भगवान ने मारी को एक बाढ़ मारा लेकिन उसमें नोक नहीं बिना नोक वाला ऐसे ही बाढ़ मार दिया तो वो बाण मारा तो छिदा तो नहीं उसको शरीर में लेकिन वो बाण ने मारीच को उठाया और बाण लेकर के मारीच को लेकर के भागा तो बस मारीच उड़ता चला जा रहा था आसमान बाण उसको पीछे चक्का चला जा रहा था और फिर क्या हुआ कि सत योजन का सागर तारा वो तो सौ योजन दूर चला जहाँ समुद्र था वहां का चला गया और समुद्र के पास एक टापू था वहां पहुंचा ये कहाँ था बम्बई के पास हाँ? कहा वहां बिहार की तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार की तरफ से वहां से भगवान ने मारा उसको मार और वो बाढ़ से भागवा भागवा चला गया बाढ़ के साथ में और वहां जाके गिरा जाते सत्योजन स्वयोजन सौयोजन हो गया मैंने चार सौ नहीं गया इस प्रकार से जब वो हो इतनी दूर जाकर के गिरा जाता तो मारी से मारा नहीं लेकिन मारीस के सुखो ने बाढ़ में उठाकर जब उसी दूर फेंक दिया तो हमारी जब चला गया तो, तो ही रहा था जब गिरा जाकर तो वहां तो बेहोश हो गया फिर जब होश आया